समझे हैं और इसलिए हमको मारा है तो हमसे अधर्म के कारण अपराध के कारण से हमसे दुष्ट है तो जब भगवान ने कह दिया कि टाइगर कहो तो तुम्हारे शरीर को बनाया तो भी वो समझ गया कि भगवान अपना नहीं रहे हैं हमको और शरीर को हमारे सुरक्षित करके हमको गिरा रहे हैं दूर कर रहे हैं युक्त नहीं देना चाहते भक्त नहीं देना चाहते तो अब भी इसको लग रहा है कि जैसे भगवान नाराज हुई करके उनसे प्रार्थना करता है भगवान अब आप अपनी नाराजगी छोड़ो हमारे ऊपर कृपा करो अब नाथ कर तो करना विलोको तो, अब विलोको तो हमने देखो लेकिन करुणा की दृष्टि से देखो प्रेम की दृष्टि में देखो और हमें अपनी शरण में समझो हम आपके भक्त हैं और देव देवर मांग हूँ और जो वरदान हम चाहते हैं आप कथा करते हो तो अगर मान लो भगवान ने कह भी दिया बाद में तो नहीं नहीं अब हम तुम्हारे ऊपर कोई हमारा क्रोध छोड़े है अब जब तुम इस प्रकार से शरीर को भी नहीं रखना चाहते और भक्ति चाहते हो और इस प्रकार से सदगत चाहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई क्रोध छोड़ेंगे तो कहता अगर क्रोध नहीं है आप हमारे ऊपर दया करते हो तो जो वरदान हम मानते हैं वो वरदान दीजिए क्या वरदान मानता है कि जो जो जन्म कर में बसो कहा राम पदे अनुराग हूँ कहते हुए देखो हमारा जन्म जन्म आपके चल रहे में प्रेम बना रहे भक्ति बन वो <clears throat> कहता है कि देखो कर्म के बिना भोगे हुए नष्ट नहीं होते तो जो कर्म जितने भी हैं तो जो कुछ भी होंगे उनके अनुसार कोई भी शरीर प्राप्त बना रहे लेकिन <clears throat> कर्म को भोगने के लिए शरीर प्राप्त होता है तो वो तो बात उन लोगों के लिए है जो भक्ति नहीं ज्ञान नहीं ऐसे लोग अपनी कर्मानुसार जो सही प्राप्त करेंगे तो उन्हें कर्म का दंड प्राप्त होता रहता है सुखी दुखी होते रहते हैं तो कर्म का दंड नहीं रहता <clears throat> लेकिन कर्म अपने स्थान में बना रहे और वो अपना फल देता रहे लेकिन व्यक्ति भगवान का भक्त है अथवा आदमी जानी है तो ऐसे व्यक्ति को वो कर्म के फल उसके बाधित नहीं करते वो फिर कमल पत्र के समान रहता है जल में जैसे कमल पत्र हो उसी प्रकार से अपने ही कर्मों के भोग के बीच में वे उनसे अप्रभावित होकर के असंग होकर के निर्लेप होकर के रहता है तो ऐसे व्यक्तियों को फिर जन्म लेने में भी कष्ट नहीं मरने में भी कष्ट नहीं और जमीन में सारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनसे जैसे कोई बाधा दिखाव से नहीं होती उनसे असंग हो जाता है तो दूध आप देखो जब साफ आप देखेंगे तब एक दृष्टि जागृत होगी अन्यथा स्थूल दृष्टि अपने मन से कोई विचार करे तो उसे लगेगा अभी हाल में कहाँ गए थे वहाँ पर तो एक व्यक्ति जो पूछ रहा था हाँ वहाँ दीवार में जो बबी था वहाँ पर तो पूछ रहा था कहता तो हम देखते हैं छात्रों में एक आ जाता है कि जो लोग मुक्त हो जाते हैं वो लोग ज्ञान ज्ञान से और किसी से सबसे मुक्त हो जाते हैं और सारे उनके दुख दुखों की निवृत्ति हो जाती है लेकिन हम तो देखते हैं कि रामकृष्ण परमेश को कैंसर हो गया उनको ये रोग लग गया उनको ये रोग लग गया जिनको इस प्रकार कहते हैं उनको इस प्रकार से हो गया तो संसार में लोग बात यही समझते हैं ज्ञानी और भक्त लोगों के शरीर में कैंसर कैंसर रोग रोग नहीं होते हैं और शरीर कभी तो मरता भी नहीं अमर हो जाते ऐसा तो उनको लगता है लेकिन ये शास्त्र सम्मत बात नहीं शास्त्र सम्मत बात यह है कि शरीर जितनी है वो का भोग ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को लौकिक दृष्टि से एक समान है अज्ञानी व्यक्ति का प्रार्थ अपना काम करता रहता है उसी के अनुसार शरीर का जीवन यात्रा चलती रहती है रोग देख होते रहते हैं जन्म मरण होता रहता है वो कर्मानुसार होता है अज्ञानियों का और ज्ञानियों का भी यही होता है गीता को तीसरे अध्याय को देख लेना उसमें भगवान ने इसी इसी प्रकार से कहा है हाँ कि दोनों के लिए इस प्रकार से यही है ये एक ही प्रकार से प्रार्थ काम करता है लेकिन ज्ञानी के साथ ये है ज्ञानी उनसे असंग रहता है उनके कारण से प्रभावित नहीं होता कर्म के फल से बाधित नहीं होता उसको दुख हो सुख हो ये सब नहीं होता ये असंगता उसकी विशेषता है ज्ञानी और अज्ञानी की सफल है आसक्ति है लगाव है देहाभिमान है कर्माभिमान है कर्ता भाव है भोक्ता भाव है ये अज्ञानी का लक्षण है अब यहाँ समझा देते हैं कह देते हैं किसी आदमी उसके बाली के द्वारा कि जो जन्म जन्म हो कर्म बस हम्म? एक तो जन्म जो होता है शरीर का वो तो कर्म संसार होता है हम्म? लेकिन भक्ति से राम पद अनुराग भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है तो वो जन्म कोई कर्म कोई दुख नहीं देते एक बात तो ये वरदान मांगा उसने भक्ति का वरदान भगवान से मांगा और दूसरी रात की ये तने मम दिने बल कल्याण प्रभु प्रभु दीजिए कल्याण प्रभु प्रभु हे तो भगवान आपके कल्याण करने वाले तो आप कल्याण करने वाले हैं तो आप जो है इसके ऊपर जो है हमारा अंगद है इसको जो है इसके ऊपर भी आप कृपा करो और उसको अपना दास स्वीकार करो ये तनय मन सम ये ये हमारे हमारे जैसा हमारा बल है उसी प्रकार और समय विनय विनम्रता भी सुनो मैंने दोनों अब ये दो गुण एक साथ होना बड़ा मुश्किल है संसार में दुर्लभ है कल भी हो और गुणे भी होता ये देखा जाता है जो बलिष्ठ लोग हैं उन्हें विनम्रता नहीं देखी जाती बलिष्ठ होते हैं तो अहंकार आ जाता है चाहे शरीर बल हो चाहे बुद्धि बल हो धन बल हो कोई भी बल हो बल व्यक्ति की विनम्रता को विनाश करता है लेकिन ऐसा हो कि दिले भी हो विनम्रता भी हो और बल भी हो ये बड़ा दुर्लभ है तो कहते हैं ये इसमें ये बड़ी सुंदर बात ये है कि शक्ति के हिसाब से तो शक्ति तो उसकी उतनी है जैसे कि मिल नहीं सकते हो और विनम्रता अब बाली अब अपने आप को दिखा रहा है कि जैसे अब हम विनम्र हैं तो समय अभिमान हमने से छोड़ दिया है और तो जो जो हमने है वैसे ही गुण तो उसमें विनम्रता का भी उसमें <clears throat> ये है ये है तनय मन समय विनय बल लीजिए कल्याण प्रभु भगवान के लिए संबोधन <clears throat> मालिक शायद कहीं पत्रकार किसी पुत्र की चर्चा कहीं नहीं आती है हो सकते हों लेकिन अंदर के ऊपर बाल की बड़ी प्रीति थी बचपन से ही बड़े प्रेम के साथ उसको पाला था और वो अंदर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्वयं का वो एक आभूषण होता है उसका भी नाम अंगद स्वयं का आभूषण जो पहना जाता है यहाँ पर आंखों में वो उसको वो उसे अंगद को भी बड़ा प्रिय था और उसके उसने बना करके तो पहनाया हुआ इसलिए उसका नाम ही अंगद रख दिया और उसको बड़े प्रेम के साथ पालने के कारण से बड़ी उसकी जो है प्रति होने के कारण से अब वो ये कहता है बाल के मन का भाव ये है कि यद्यपि हमको चाहिए था हमको अवसर मिलता कि हम आपकी सेवा करते लेकिन हम तो आपकी सेवा नहीं कर सकते सब बानर लोगों सब देवताओं ने आ करके शरीर धारण किया बानर शरीर धारण किया और वो सब आपके युद्ध में और आपके लीला में सब लोग भागीदार होंगे सब आपकी सेवा करेंगे लेकिन एक नई ऐसा रहा जो आपकी सेवा में नहीं हो सका सभी छोड़ के वादा कर रहा है तो हमारा जो पुत्र ये अंगत है ये इसकी पूर्ति करेगा तो आप इसको अपना दास माने और इससे सेवा कार्य ये आपका सेवा कार्य करेगा एक बात ये और दूसरी बात ये कि ये इस, इस पुत्र को जो है ये ऐसा न हो अंदर ये बाल ये भी सोचता है कि सुग्रीव से मित्रता हो गई अब सुग्रीव को बना दिया जाएगा राजा और सुग्रीव राजा बनने के बाद में ये राज्य जो है वो सुग्रीव की परंपरा में ही चलता रहे उसके पुत्रों को ही प्राप्त होता रहे और ये अंदर हमारा पुत्र ये रहेगा बाद में कहेंगे देखो हमारे बाप को ऐसा निकला कि हमारा जो राज्य था वो वो राज्य भी चला गया दूसरे हाथ में हम रहेंगे बिना तो अपने पुत्र को पुनः राज्य प्राप्त कराने के लिए इसलिए आगे चल करके सुप्रीम को तो राजा बनाया जाता है लेकिन अंगद को युवराज पर अंगद को उसी समय दे दिया जाता है बाल के कहने के कारण तो मैंने सुग्रीव के बाद कौन राजा बनेगा अंगद हाँ, ये बात राम पाल चाहता था वो भगवान से वो भी कराएंगे तो गई बास नरनाथ हे सुनरनाथ गई गई बार दास अंगत कीजिए तो को आप अपना दास बना लीजिए और इसको आप अपनी शरण में लीजिए इसको इस प्रकार से उसने अब देखते हैं बात की एक बात का ध्यान रखते हैं कि जितने भगवान के भक्त हैं ये लौकिक और पारलौकिक है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को संभाले रखते हैं ये एक पक्षी नहीं बनते तो वो बाली में अपने पारलौकिक अपनी भक्ति प्यारी प्राप्त करने के लिए वो तो वरदान मांग लिया तो सबसे प्रमुख तो बात ये है लेकिन नंबर दो बात ये भी है कि उसने जो है अपने परिवार के लिए भी अन्य लोगों के लिए भी उसके लिए लौकिक दृष्टि से जो भी हो सकता था उसकी भी व्यवस्था वो करता है दोनों तरफ ध्यान रखता है तो गरीबा सुर नरना है आपन दास बाहर जो है करके मैंने जैसे कोई अपनाता है तो हाथ पकड़ लेता है कहता है इसका हाथ में पकड़ लिया मैंने आश्रय दे दिया मैंने शरण में स्वीकार कर लेना है बाहर पकड़ लेना तो मैंने अपने शरण में ले लेना है तो उसने अंगत को आप अपने शरण में ले लीजिए और उस अपने अपना दास समझिए उसको अपना दास बनाइए <clears throat> जैसे आपकी लीला में सहायक होगा कार्य करेगा ये के राम करण दृढ़ प्रीत करी अब देखो इसके बाद क्या करता अब बात तो पूरी हो गई तो मैंने भगवान ने वरदान भी उज्जवल करे दोनों बातें हम करेंगे यहाँ पे उल्लेख नहीं किया नहीं किया हो तो भी भगवान ने कोई नहीं तो नहीं थी इतने नहीं अंदर को भक्त को देंगे नहीं नहीं करा रहे बाल अंदर को अपने पास नहीं बनाए नहीं तो नहीं थे तो उसके माने मौनम स्वीकृति लक्षणम ये सिद्धांत ये है भगवान अगर चुप भी रहे हैं मान लो कदाचित तो उसके माने देव ने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुमको ऐसी भक्ति प्राप्त होगी अंगत को हम इस प्रकार से अपनी शरण में लेंगे ये भी स्वीकार हो गया और फिर उसके बाद क्या करता है उसके बाद में कि राम चरण दृढ़ प्रीति करिए तो फिर अपने भक्ति को भगवान के चरणों में और दृढ़ करता है माने अब शरीर छूटने को तो है तो वह शरीर अंतिम बात जो बात होगी थी सब तो अब जब शरीर छूटने लगा तो उसने अब उस भूल गया अन्नत को परिवार को तारा को और सब दूरी दूसरी बातों को अब उसने अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरण में लगा उसी में भक्ति और और बाल तीन पन क्या और ऐसे करके बारे में अपना शरीर छोड़ शरीर छोड़ दिया अब एक जगह बड़ी सुंदर बात उसी बात यहाँ कहते हैं कहीं कहीं कोई कोई बात कही कोई बात कही सबका संग्रह करना पड़ता है अब इसको देखो यहाँ क्या कहते हैं सुमन माले जी में पंख थे जर्क में जा नहीं नाग उसने ऐसे शरीर छोड़ दिया जैसे नाग मन यहाँ पर है हाथी जिससे हाथी के गले में कोई माला पहना दे और हाथी चला जा रहा है अपने झुंडा हुआ और वो माला किसी वक्त उसके शरीर हिलाने से कोई तो टूट करके कानान का धक्का लगने से अगर माला टूट जाए और टूट के जल जाए तो हाथी क्या पता लगे क्योंकि हमारे इतने बड़े शरीर में कोई माला भी पड़ी थी और कोई माला टूट भी गई है उसे माला पहनने में और माला को देने में कोई अंतर का तो पता नहीं चलेगा तुम्हारे उसमें कोई कष्ट नहीं होता और पता भी नहीं चलता जैसे हाथी को माला को गिर जाने से कोई कष्ट नहीं होता ऐसे करके कहते हैं सुमन माल जिन कंठते जैसे गले से फूल की माला गिर जाए उस प्रकार गिरफ न जाने नाग अपने जानता है इस प्रकार से शुरू कर दिया अब देखो कि अध्यात्म विद्या जो है अंतिम समय को सुंदर बना देती है सभी संत महात्मा कहते हैं कि देखो अध्यात्म विद्या को सीखो आध्यात्मिक साधना करो अपने अंतिम क्षण को सुंदर बनाओ हम्म। अंतिम क्षण के बने शरीर छोड़ते समय उस समय से भय लगे दुख हो ये सब डर लगे उस समय प्रसन्नता पूर्वक हंसी खुशी शरीर छूट जाए शरीर छूटने में शरीर का लोह अब शरीर छूटने में ये कहते हैं लोग बार कि देखो शरीर में लोगों को जितना ही अधिक लोह होता है उनका शरीर भी उतनी ही मुश्किल भी छूटता है हाँ? जो सड़े गड़े शरीर में भी आसक्त हुआ उसी में भटकता रहता पड़ा रहता है कहीं पर लोग बच जाए कहीं पर कुछ उसका शरीर का विनाश हो जाए लेकिन जीव शरीर को छोड़ता नहीं और शरीर में जो कष्ट होते हैं उस कष्ट को भोगता रहता है लेकिन अगर शरीर में आसक्ति नहीं है अभिमान नहीं रह जाए उसमें जो आसक्ति नहीं है तो शरीर से छूट जाए तो शरीर छूट जाता है शरीर में शरीर छूट जाता है तो दो प्रकार के शरीर को छूटना है एक तो कष्ट के साथ छूटना है बड़ी मुश्किल में छूटना है और एक आसानी से छूट जाना है देहाशक्ति होगी तो मुश्किल में शरीर छूटेगा अनाशक्त है शरीर में तो शरीर आसानी से छूट जाए और शरीर से छूटना पड़ेगा जब छूटना ही तो अच्छे ढंग से छूटे इसका तरीका इस प्रकार के लिए है कि स्वयं कष्ट न हो तो ये बात इसी प्रकार की बात उसमें भी आई है उत्तरकांड तो में जब देखेंगे हाँ, तो काल विषय जब पिछले जन्मों में शुद्ध रूप में थे और इन्होंने शंकर जी की भक्ति कर रहे थे और शंकर जी ने साथ दे दिया और उनके गुरु ने फिर उनके लिए प्रार्थना की शंकर जी की तो शंकर जी जब मान गए तो उसको रिलैक्स कर दिया उसको उनके साथ को तो रिलैक्स क्या कर दिया तो देखे अगर उसके हजार जन्म होने हैं तो हजार जन्म तो उसको परंतु शरीर धारण करने पड़ेंगे लेकिन बस शरीर को धारण करने के कि बार बार शरीर धारण न करना पड़ेगा क्यों चाहते हैं क्योंकि शरीर को धारण करना छोड़ने में कष्ट होता है बड़ी दुखदायी बात है ये तो इसलिए उसके हाथ में ये होगा कि शरीर छूटेगा तो उसे तकलीफ नहीं होगा शरीर धारण करेगा तो तकलीफ नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता तो भक्ति के कारण से ज्ञान के कारण भगवत प्रकाश से शरीर धारण करने और त्याग करने में सरलता हो जाती है तो कठिनाइया उसके कारण से नहीं होती दुख नहीं होते पीड़ा नहीं होती इसलिए देहाभिमान छोड़ना चाहिए ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में अपने साधना उसको कार्य करते रहे तो देह में आत्मभाव न रहे देहाभिमान समाप्त हो जाए छूट गया देहाभिमान ये पहले से अभ्यास करता रहे कि शरीर में नहीं ये शरीर में नहीं शरीर को शरीर को छूटने से पहले छोड़ देना चाहिए अरे ये इनमें व्याकरण में प्रश्न में आता है इस प्रकार से कि ज्ञानी लोग शरीर नहीं छोड़ते तो शरीर तो पहले ही छोड़ देते हैं और जब शरीर छूटता है समाप्त होता है तो वे शरीर छोड़ करके उत्क्रमण शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञानियों का शरीर से उत्क्रमण नहीं होता अब ज्ञानी बच्चों का शरीर से उत्क्रमण होता है ना शरीर से बाहर निकलते हैं उठते हैं जाते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को तो आत्मभाव में होकर के सर्वव्यापक आकाश की तरफ जाप्त हो गया और शरीर जिस शरीर छूटना है छूट गया शरीर बताओ उसको शरीर को उसने पहले छोड़ दिया तो शरीर छूटने के जब अंतिम समय आ गए तो उसके पहले शरीर छोड़ देने के मन से बुद्धि से ज्ञान से <clears throat> अनात्म भाव शरीर में उत्पन्न करके तो शरीर में नहीं हूँ चाहे उसको मल भांड समझो चाहे पंचभौती समझो चाहे जड़ समझो <clears throat> चाहे उसको कर्मों का फल विकार समझो कोई भी रूप उसको शरीर को समझ करके तो शरीर से हम्म, तादाद उसको छोड़ू इसमें देह भाव देह में अभिमान मेरे तन का भाव जो शरीर में है उसको छोड़ अपने आप को इसे अलग समझो अलग चाहे जीव समझे तो आत्मा समझे तो परमात्मा समझे तो अलग बात लेकिन शरीर तो है ही नहीं जो जड़ निष्ठा इस प्रकार की बन जानी चाहिए क्योंकि शरीर छूटता है क्योंकि कदम छूटा हुआ पहले था छूटा टूटा तो है अगर पुराने कपड़े को उतार करके कोई पैरी भर दे डाल दे कहीं हाँ, और बाद में पता लगेगा तो कोई कुत्ता उत्ता उठा लेगा और खा लेगा खा लेगा घर में तरी बन जाएगा हाँ, ये भाव इस प्रकार का कि शरीर को हमने तरी छोड़ दिया भाव अंदराज आए ले गए ले गए ले गए अच्छा कोई बात नहीं <clears throat> इसलिए देहाभिमान इस प्रकार का छोड़ करके अभ्यास सारे जीवन करे तो जिससे कि अंतकाल में इस प्रकार की स्थिति आए अब देखो अब बाल के भी भक्ति में और भगवान के शरण में जाने में कोई कोर कसर नहीं अब ये नहीं कह सकते कि बाल या भगवान का भक्त नहीं हाँ? <clears throat> इसमें कोई इतना इतना प्रसंग जहाँ कहीं है फिर भी कोई कह रहे साहब इसमें बाल में कोई भक्ति नहीं है भगवान के प्रति <clears throat> तो ऐसा नहीं इसमें ये दिखाया कि देखो दो स्थितियां दिखाई व्यक्ति में दोष भी होते हैं और दोष दूर भी होते हैं बाल में अधर्म भी था अभिमान भी था अभिमान प्रमुख था उसके कारण उसमें अधर्म में भी प्रमुख हो जाता है काम को करने भी प्रमुख हो जाता है ये भी दिखा दिया एक दृश्य तो बालिका वो है जबकि वो अभिमानी है अधर्म का आचरण कर लेता है पाप पाप को उसमें करता है और वो क्रोध भी करता है काम में भी प्रवृत्त होता है ये विकार उसमें होते हैं एक बालिका वो रूप है और दूसरा बालिका वो रूप है जहाँ ये सब विनष्ट हो जाते हैं न उसका अभिमान रह जाता है न काम रह जाता है न क्रोध रह जाता है <clears throat> और वो सब उनसे विनष्ट होकर के अपने आत्मभाव में आ जाता है भगवान की संग में हो जाता है भक्त बन जाता है तो अब आप क्या कहोगे पहले दृष्टि को देखो तो भले कहते हो कि भगवान कहाँ भक्त है बुरा अभिमानी है लेकिन अब अंतिम रूप उसको देखो तब यही कहना पड़ेगा कि ये भी भगवान का भक्त है बल्कि ज्यादा बेचारा कहने के तो लिए पता लगेगा कि सुग्रीव से बाल ज्यादा भक्त है सुग्रीव तो भगवान के संग में जाता है और संग में जाता है और बड़ा बैराग्य भी उसके मन में आ जाता है जैसे कल देख रहे थे उसके पिछले यार तो वो सुग्रीव जो है बैराग्य की भी बातें करता है भक्ति की भी बातें करता है अत्र भी कृपा करेंगे भांति सब सबको भजन करें दिन भांति इस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना भी करता है लेकिन उसका बैराग्य क्षण है बैराग्य उसका भला जाता है और उसके बाद देखेंगे आगे करके जब कथा आएगी तो देखते हैं सुग्रीव को अपने राज्य को प्राप्त करके पत्नी इत्यादि को प्राप्त करके संसार में लिप्त हो भगवान लेकिन बालिक ने भगवान को प्राप्त किया तो फिर उसने न अपना शरीर रखा न राज्य रखा न परिवार रखा न विषय रखे फिर तो सीधे उसने कहा भगवान मिलकर भगवान ही चला अब बताओ दोनों तुलना करो कि तो सुग्रीव ज्यादा भगवान का भक्त बाल भगवान का ज्यादा था सुग्रीव तो के तो सारे फिर उसके बाद में मान लो कि लंका विजय के बाद में जो सुग्रीव को राज्य प्राप्त हुआ तो सुग्रीव को जिंदगी पर राज्य करना पड़ा हम्म? हाँ बाल को नहीं करना पड़ा बाल तो उसी समय मुक्त हो हाँ। अनेक दृष्टिया होती है पक्ष अलग होते हैं वो तो उनके प्रसंगों को देखो देख करके फिर अपने मन में आकलन करो विचार करो चिंतन करो डिस्कस करो तो बहुत सी बातें निकलेंगी बाद में बहुत से अब उसको उन बातों को पिछली बातों को छोड़ दो जहाँ से वो है अब सुग्रीव के ललकारने पर बाल आता है वहाँ से लेकर तो यहाँ तक का जो प्रसंग है उसमें देखो तो बाल में बहुत से गुण भी दिखाई देते हैं हाँ, उसका पीता का गुण सूता का गुण बल का गुण हाँ, उसमें साहस का गुण खोरी का गुण ये सब देखो तो उसमें सब दिखाई देते हैं अरे वो जिसको जो भाव लग जाए जमीन में खड़ा हो और उठ करके फिर बैठ जाए तो बड़े ही साहसी लोगों का काम है बड़े ही धैर्यवान लोगों का काम है छाती में लगा था और मुंह से वो अपनी बात कर रहा है भगवान से और तर्क वितर्क कर रहा है उसमें उस समय कोई ऐसा कर सकता है आपको अनेक गुण भी दिखाई देती है उसमें इस प्रकार एक बड़ा सावधान भी है और देखो जितना भी समय वो व्यवहार करता है भगवान के सामने बड़ा सिस्टमेटिक है विचार पूर्ण है तर्क संगत है ऐसा नहीं कि उसमें आप प्रारंभ कर रहे हैं कि विफल हो गया था समय बोल रहा है किसी भी बातें हो रही है इधर हो रहा सो कुछ नहीं बड़ा सब व्यवस्थित से विचार करके सारी सारी बात और भगवान से वरदान भी मांग लेता है अपने परिवार की व्यवस्था कर लेता है और फिर अंत में अपने मन को भगवान के चरणों में जड़ भक्ति भी लगा देता है अब देखो कितना सावधान है सावधानता भी एक बहुत बड़ा गुण है असावधानी के कारण बहुत गड़बड़ियां हो जाए आप एक करके ध्यान देंगे तो इसके माने ज्ञानी भी है भक्ति भी है एक तो ज्ञानी में सबसे जानता है कर्म होता है कर्म का फल भी होता है माता कई दान करने पड़ते हैं तो सब ज्ञान नहीं भगवान शंकर जी किस प्रकार से भगवान का नाम देकर के काशी लोगों ज्ञान की बातें तो नहीं है तो बालक ज्ञान में कमी है कि भक्ति में कमी है देखा रहे उसमें अखिलात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुकुंदर निर्भराम कामादिदोषरहित मान संचय मेरा श्री राम राम जय